मुसलमानों बहुत से अहले किताब अपने दिलों के हसद की बिना पर ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटा कर फिर काफिर बना दें बावजूद के हक उन पर वाजह हो चुका है चुनाचे तुम मुआफ करो और दरगुजर से काम लो यहां तक कि अल्लाह खुद अपना फैसला भेज दे बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है